पिता परमात्मा का स्मरण अत्यंत श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट परमात्मा प्रणव ध्वनि Oh. ओ इसको मोबाइल परमात्मा को विभिन्न संबोधनों से संबोधित करते हुए परमात्मा के स्वरूप को मन में यथावत रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है ईश्वर भक्त परमात्मा को विभिन्न संबोधनों से संबोधित करता हुआ उसकी स्तुति करता है परमात्मा के गुणों का बखान करता है और स्तुति का फल प्रीति ये तब बनता है जब हम उस स्तुति का अर्थ ठीक प्रकार से समझ पा रहे हो परमात्मा को अच्छे अच्छे संबोधनों से संबोधित करते हुए हम उसकी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति का लक्ष्य हमारा है कि परमात्मा से हमारी प्रीति बढ़े और बढ़े परमात्मा को प्रसन्न करना हमारा प्रयोजन नहीं है और परमात्मा स्तुतियों से उस तरह से प्रसन्न नहीं होता जैसे कि सामान्य व्यक्ति मनुष्य अपनी प्रशंसा से स्तुति से प्रसन्न होता है तो परमात्मा को किया गया संबोधन परमात्मा की स्तुति है और स्तुति का प्रभाव हमारे पर आने वाला है परमात्मा के प्रति प्रीति परमात्मा के प्रति प्रीति प्रत्येक भक्त चाहता है वो अधिक से अधिक हो प्रीति उतनी होगी जितनी स्तुति होगी स्तुति में न्यूनता है तो प्रीति में भी न्यूनता अवश्य होगी और उस परमात्मा की स्तुति मात्र शब्दों के उच्चारण से नहीं की जाती है स्तुति का जो अर्थ है उस संबोधन का जो अर्थ है वो हमारे मन में होना चाहिए उस शब्द का जितना अच्छा अर्थ विस्तृत अर्थ संपूर्ण अर्थ हमारी भावना में रहेगा उतनी अधिक प्रीति परमात्मा के प्रति हमारी हो सकेगी महर्षि दयानंद ने आर्यभिविनय के प्रथम मंत्र में परमात्मा को बहुत विशेषणों से विशेषित करते हुए संबोधन बनाए हैं तीसरे संबोधन को हम पीछे देख रहे थे हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण परमात्मा अद्वितीय है इस पर हमने कल ध्यान केंद्रित किया परमात्मा जैसा कोई नहीं है दूसरा है परमात्मा अनुपम है परमात्मा को समझने के लिए कोई उपमा नहीं हो सकती नहीं दी जा सकती परमात्मा अनुपम है इसका भी अंततः तात्पर्य यही कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है अतुलनीय है इसलिए परमात्मा की उपमा नहीं दी जा सकती किसी अज्ञात वस्तु को समझने के लिए हम ज्ञात वस्तुओं का उदाहरण लेते हैं हमें लेना होता है किसी बच्चे को यदि समुद्र के बारे में बताना हो समुद्र का अभी प्रत्यक्ष नहीं है बच्चे को समुद्र के किनारे पिता अभी नहीं ले जा सका है लेकिन फिर भी समुद्र के बारे में कुछ बताना है तो एक बड़े तालाब का उदाहरण देगा बच्चा पूछता है समुद्र कैसा है तो पिता कहेगा कि तालाब जैसा है और बच्चे के लिए उतना ही पर्याप्त है और एक ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में पैदा होता है इस रूप में वो सार्थक है लेकिन क्या वास्तव में तालाब समुद्र की उपमा हो सकता है कि समुद्र कैसा तालाब जैसा एक सीमा तक ठीक है यदि किसी बड़ी झील की तुलना देनी हो बच्चे ने समुद्र देखा हो और किसी बड़ी झील को दिखाने के लिए ले जाया जा रहा हो उसकी उत्सुकता है जानने की तो पिता कहेगा बहुत बड़ी झील है बोले कितनी बड़ी झील है बोले जैसे समुद्र बड़ा होता है ऐसी झील है समुद्र जैसी बड़ी है समुद्र जैसी गहरी है ये उपमा दी गई समझाने के लिए हमें इन सब का उपयोग करना होता है परमात्मा भी चूंकि ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाना जाता और हमारा अधिकांश व्यवहार ज्ञानेन्द्रियों तक सीमित है हम उसी के अभ्यस्त हैं तो ऐसी वस्तु जो ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जानी जाती हो उसके प्रति हमारा सहज विश्वास नहीं हो पाता है उसके लिए कुछ और करना होता है परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बताते हुए कि वो हमारा पालन करता है परमात्मा कैसे पालन करता है ये समझाने के लिए कुछ न कुछ उदाहरण हमें देना होता है उपमा देनी होती है तो हम कहते हैं परमात्मा पिता के समान पालन करता है परमात्मा हमारे से प्रेम करता है परमात्मा सदा हमारी उन्नति चाहता है किस प्रकार से जैसे कि माता प्रेम करती है बच्चे की उन्नति चाहती है परमात्मा न्यायकारी है कैसे जैसे कोई न्यायाधीश या न्यायकारी राजा उचित निर्णय देता है उचित पुरस्कार देता है तो परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा के अज्ञात स्वरूप को समझने के लिए हम उदाहरणों पर निर्भर होते हैं पर मैं यहां कह रहे हैं परमात्मा अनुपम है ये विभिन्न उदाहरण परमात्मा की उपमाएं हैं परमात्मा ऐसा है परमात्मा ऐसा है एक स्तर तक ये सब समझना उपयुक्त है प्रारंभिक स्तर पर यह समझना उपयुक्त है जैसे बच्चे ने समझ लिया था कि समुद्र कैसा है तालाब जैसा है लेकिन यदि वो बच्चा समुद्र का स्वरूप सदा उस तालाब जैसा ही समझने लगे तो ये उपमा उसके लिए अब बाधक बन जाएगी सत्य तक पहुंचने में बाधक बनेगी व्यवहार में बाधक बनेगी यदि वो समुद्र तक पहुंच गया है तो उसे स्वतः पता लग जाएगा कि समुद्र तालाब जैसा नहीं है समुद्र की क्या तुलना की जा सकती है किस बड़े तालाब से किस बड़ी झील से समुद्र की तुलना की जा सकती है उपमा दी जा सकती है वो समझ जाता है ये चयन की प्रक्रिया है किंतु जब हम परमात्मा को समझते हैं वो माता के समान है पिता के समान है गुरु आचार्य के समान ज्ञान देता है तो भक्त उसे उदाहरण समझते हुए भी परमात्मा में वैसा ही स्वरूप देखने लगता है उस बच्चे की तरह अभी समुद्र को जाके तो उसने नहीं देखा है वो तो बहुत आगे की बात है परमात्मा का जब साक्षात्कार होगा उस दिन तो स्वतः ही रहेगा कि परमात्मा की उपमा हो ही नहीं सकती अनुपम है वो लेकिन जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक क्या परमात्मा को माता पिता न्यायाधीश के समान ही समझ करके चला जाए तो प्रारंभिक साधक के पास में और कोई उपाय नहीं है वो वैसे ही चलता है भले ही हमने परमात्मा का साक्षात्कार न किया हो लेकिन जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया उनकी बातों को समझ के हम आज भी सावधान हो सकते हैं उस बच्चे को तालाब का बता दिया समुद्र तालाब जैसा है समुद्र को उसने थोड़ा समझा लेकिन उसको ये भी कुछ समय बाद में बोध हो गया कि समुद्र इससे बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है इतना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक कि प्रत्यक्ष ना कर लें ये बोध भी जब उसको साथ में हो जाएगा तो वो अब तालाब से समुद्र को समझते हुए भी समुद्र को तालाब नहीं समझेगा और तालाब से समुद्र जैसा कार्य भी नहीं लेगा समुद्र का स्वरूप वो तालाब तक सीमित नहीं रखेगा तालाब को भी समुद्र जैसा नहीं समझने लगेगा ये एक मध्य का स्तर है प्रारंभ में हमने समझा परमात्मा माता पिता गुरु न्यायाधीश के समान है आया समझ में लेकिन हम इसमें पड़ गए कि माता ही परमात्मा है भगवान है पिता ही भगवान है गुरु ही भगवान है राजा और न्यायाधीश ही भगवान है बस इन्हीं को भगवान मानो अपना ये लंबी यात्रा मुक्ति की यात्रा शुद्ध ज्ञान से युक्त होकर चलती है यहां अंधश्रद्धा को अज्ञान को अविवेक को कोई स्थान नहीं है कितनी ही भावना से कितनी ही तथाकथित श्रद्धा से युक्त होकर के हम परमात्मा को बढ़ा चढ़ा के देख लें अथवा अन्यों को परमात्मा समझ लें परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं एक स्तर तक आगे बढ़ेंगे लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग माता पिता को ही भगवान मान करके उनकी सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति मान चुका है मानता है और दूसरे कुछ ये समझते हुए कि माता पिता अलग हैं परमात्मा अलग है लेकिन चूंकि मन में बैठा है कि परमात्मा माता पिता के समान है तो जैसे वो माता पिता को समझते हैं वैसे ही वो परमात्मा को भी समझने लग जाते हैं उदाहरण उपमा एक अंश तक सीमित है अब माता हमारा पालन करती है हमसे स्नेह करती है प्रेम करती है हमारे लिए व्यवस्थाएं करती है लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि माता प्रेम का भाव रखते हुए भी हमारे लिए कुछ गलत कार्य अहित कर कार्य कर जाती है बचपन में पता नहीं लगता बाद में पता लगता है प्रेम का भाव रखते हुए भी माता गलती कर सकती है बच्चे का अहित कर सकती है अहित की भावना न होते हुए भी अहित कर सकती है और ऐसा का ऐसा हम यदि परमात्मा के प्रति समझने लग जाएं, तो परमात्मा को समझने में चूक हो जाएगी परमात्मा माता की तरह नहीं है क्योंकि वो अज्ञान से युक्त नहीं है माता के साथ हम जोर जबरदस्ती कर सकते हैं नहीं आपको ये मानना होगा मुझे ये चीज देनी होगी जिद कर सकते हैं जिद करते भी हैं और माता भी उसे बाद में अच्छा समझती है देखो इसमें कितना अपनत्व है मेरे प्रति कि मेरे से जिद करता है मेरा बच्चा मेरे से जिद करता है पिता भी समझ सकता है ऐसे माता पिता मिलने दुर्लभ हैं जो बच्चे की जिद को पूरा नहीं करते हर जिद को पूरा नहीं करते पालन पोषण हित का भाव रखते हुए भी जो उचित है उसे पूरा करते नहीं तो नहीं करते जिनको ऐसे माता पिता मिले हैं वो तो परमात्मा के प्रति ये भाव बना सकते हैं लेकिन अन्य तो परमात्मा को भी वैसा ही समझने लगेंगे और उनका वो स्वभाव परमात्मा के साथ भी वैसा ही करने को विवश करेगा वो उदाहरण को पूरी तरह से उदाहरण के रूप में न समझ करके बिल्कुल वैसा समझने लगेंगे तो परमात्मा से भी जिद करने लगेंगे एक बार दो बार मां मना भी कर रही है पिता मना भी कर रहा है लेकिन बार बार कहने पर वो मान जाते हैं झुक जाते हैं ये भाव मन में बैठ जाता है तो परमात्मा के प्रति भी वैसा ही करने लगते हैं वैसे कह रहे परमात्मा अनुपम है ये उदाहरण उपमाएं दी जाते हुए भी ये सावधानी रखनी है आर्य को कि परमात्मा अनुपम है माता पिता जैसा नहीं है परमात्मा के एक अंश को पालन करने को मां में पिता में देख सकते हैं लेकिन परमात्मा के अन्य गुणों को भी साथ में रख के देखना होगा परमात्मा शुद्ध ज्ञान वाला है सर्वज्ञ है जो कि माता पिता नहीं है तो परमात्मा के पालन और माता पिता के पालन में भिन्नता क्यों नहीं आएगी परमात्मा पालन करता है लेकिन न्यायकारी भी है और पूर्ण न्यायकारी है माता पिता या न्यायाधीश पूर्ण न्यायकारी नहीं होते तो व्यक्ति परमात्मा को पालन करता मानते हुए उसके समस्त गुणों को साथ में रखते हुए उसको पालन करता मानता है आर्य ये भावना रखेगा और जब ये भावना रखेगा तो उसे लगेगा परमात्मा जैसा पालन करने वाला तो कोई नहीं है परमात्मा जैसा रक्षक कोई नहीं है जो माता पिता और राजा के उदाहरण से परमात्मा को समझते हैं यदि वो ये भी समझ रहे हों कि माता पिता राजा की सामर्थ्य बहुत कम है परमात्मा की सामर्थ्य तो बहुत अधिक है इसलिए परमात्मा जैसा पालन रक्षण ये नहीं कर सकते ऐसा भी किया जा सकता है बहुत से करते भी हैं और ठीक है ये लेकिन इसके साथ में यदि और चीजें जुड़ जाएं जैसा कि हम माता पिता के साथ में कर लेते हैं माता पिता की जो कि हमारी रक्षा करते हैं उनकी अवहेलना करके भी फिर हम उनको मना लेते हैं परमात्मा को भले ही बहुत बड़ा रक्षक मान लिया हो लेकिन फिर ये भाव अगर मन में रह गया कि परमात्मा की अवहेलना करते हुए उसकी आज्ञाओं को पालन न करते हुए भी मैं मना लूंगा उसको तो नहीं परमात्मा तो ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा हमारी बहुत रक्षा करता है और माता पिता भी बहुत रक्षा करते हैं हमें किसी और से रक्षा प्राप्त करनी है तो हम कैसे रक्षा प्राप्त कर लेते हैं रक्षकों से विभिन्न उपायों से उनसे निवेदन करके उनको कुछ धन दे करके उनकी कुछ सेवा करके जैसी रक्षा हम चाहते हैं वैसी प्राप्त कर लेते हैं प्राय माता पिता गुरुजन हमारी कोई बात नहीं मानते तो हम उनकी कुछ अतिरिक्त सेवा करके उस गलत बात को भी मनवा लेते हैं हमारी प्रवृत्ति होती है हम कुछ अतिरिक्त दे करके उनको अपने अनुकूल बना लेते हैं ये हमारा लंबा अनुभव अंदर तक बैठा है और वो ही जब परमात्मा पे भी घटने लगता है कि परमात्मा को भी मैं ये चीज दे दूंगा ये कुछ रुपए चढ़ा दूंगा ये माला चढ़ा दूंगा कुछ देर परमात्मा का ध्यान कर लूंगा परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा एक स्तर है जो कोई भौतिक वस्तुएं दे करके परमात्मा को मनाने का प्रयास करता है लेकिन जो अधिक जान गए हैं उन्हें पता है इन भौतिक वस्तुओं को देने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है तो वो एक ऊंचे स्तर पे जाते हैं वो ऐसा नहीं करते लेकिन वो परमात्मा की स्तुतियां करते हैं परमात्मा की प्रशंसा करते हैं परमात्मा का जप करते हैं गुणों का बखान करते हैं भजन गाते हैं रोते हैं विवल होते हैं उसकी भक्ति में लेकिन साथ में क्या जोड़ रखा है ऐसा करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे एक स्तर पार किया लेकिन दूसरे स्तर पर अटक के रह गए परमात्मा की स्तुतियां करने से वो प्रसन्न नहीं होता जैसे अन्य रक्षक स्तुति करने से हमारी और रक्षा करते हैं परमात्मा की स्तुति करने से वो हमारी और रक्षा नहीं करता वो रक्षक है सर्वरक्षक है लेकिन वो अन्य गुणों से भी युक्त है और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने को व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त समझने लगता है और ये सोचता है परमात्मा तो मेरा अपना है मैं उससे कुछ भी मनवा लूंगा जैसे हम लोक में अपने व्यक्ति से मनवा लेते हैं परमात्मा अनुपम है उस जैसा वास्तव में कोई नहीं है क्योंकि परमात्मा अद्वितीय है हर गुण उसमें इतना अधिक है और वो अपने उन समस्त गुणों से युक्त होकर के हमारे साथ व्यवहार करता है अपने किसी गुण को छोड़ करके व्यवहार नहीं करता यदि वो हमारे से प्रेम करता है वो हमारे से मित्रवत व्यवहार करता है तो अपने सब गुणों से युक्त होकर के करता है छोड़ करके नहीं एक राजा अपने अपराधी पुत्र को प्रेम करता है क्योंकि वो उसका पुत्र है लेकिन जब वो न्यायाधीश के रूप में बैठता है न्याय करता है और उसको मृत्यु दंड दे देता है तो अपने बेटे से जो व्यवहार कर रहा है वो अपने समग्रता से व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो न्यायाधीश भी है वो राजा भी है मनुष्य और अन्य प्राणी आपस में अपने एक एक अंश में एक एक गुण को लेकर के व्यवहार करते हैं हम भी अनेक बार ऐसा कर लेते हैं हमारे में बहुत से गुण हैं लेकिन किसी स्थिति विशेष में हम अपने समस्त गुणों को साथ में नहीं रखते किसी एक गुण के आधार पर व्यवहार कर लेते हमारे में प्रेम और स्नेह है हमारे में दंड देने की भी प्रवृत्ति है लेकिन कभी किसी से प्रेम ऐसा हो तो दंड देने की प्रवृत्ति को एक तरफ करके यानी न्यायकारिता को एक तरफ करके और अन्याय पूर्वक भी हम दूसरे को सुख दे देते हैं उसका उपकार कर देते हैं और इसी तरह से कहीं हम स्नेह प्रेम भी रखते हैं सहानुभूति भी रखते हैं लेकिन न्यायाधीश बनने के क्रम में न्यायकारिता में इतने सिद्धांत वाले होते हैं कि वहां हम प्रेम की भावना को हित की भावना को एक तरफ रख करके न्याय कर बैठते हैं दोनों गुण हमारे में हैं हम व्यवहार में लेते हैं लेकिन कभी कभी हम एक तरफ चले जाते हैं परमात्मा ऐसा नहीं है परमात्मा की तुलना उपमा कितनी भी चीजों से दी जाएगी एक एक अंश में होते हुए भी परमात्मा और अन्य वस्तुओं में ये बड़ी भिन्नता है कि परमात्मा अपने किसी भी गुण से अगर किसी के साथ व्यवहार कर रहा है तो उसके समस्त गुण साथ में रहते हैं यदि वो दया कर रहा है तो न्यायकारिता साथ में है ही और वो न्यायकारी है न्याय कर रहा है तो दया साथ में है ही इसलिए महर्षि दयानंद को कहना पड़ा कि न्याय और दया में अंतर कहां है हम सामान्यतया न्याय और दया को भिन्न भिन्न मानते हैं कि जो न्यायकारी है वो दयालु नहीं हो सकता और जो दयालु है वो न्यायकारी नहीं हो सकता ये लोक व्यवहार में देखा जाता है लेकिन परमात्मा की यही विशेषता है कि वो अपने समस्त गुणों को साथ में रखते हुए अपने किसी एक गुण को भी क्रियान्वित करता है ऐसा कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं हो सकता न्यायाधीश को हम फिर भी समझ सकते हैं कि वो बिना पक्षपात के न्याय कर देगा क्योंकि सीधा उससे हमारा संबंध नहीं है लेकिन जिनके साथ हम वर्षों से रह रहे हैं माता पिता भाई बहन मित्र वहां तो हम आए दिन देखते हैं कि ये अपने स्नेह या मित्रता या प्रेम के वशीभूत होके कुछ कुछ कर देते हैं उल्टा सीधा परमात्मा के साथ हम सदा रहते हैं परमात्मा हमें सदा हितकारी है वो हमारे लिए अति प्रेम वाला है हमारे से बहुत प्रेम करता है सदा रख रहा है इतना होते हुए भी इतनी निकटता रखते हुए भी वो लौकिक व्यक्तियों जैसा रक्षण पालन ज्ञान का देना कभी नहीं करता इसलिए परमात्मा अनुपम है परमात्मा को समझने के लिए कितने भी उदाहरण ले लें उनकी सीमा हमारे मन में होनी चाहिए समझ होनी चाहिए ऐसा नहीं करना है इन किसी भी उपमा वालों को परमात्मा के तुल्य या परमात्मा से बड़ा कभी नहीं समझना है जो जो भी उपमा दी जाती है परमात्मा की वो सब हीन उपमा है परमात्मा से न्यून है एक एक अंश में है न तो परमात्मा के तुल्य है न परमात्मा से कोई श्रेष्ठ है परमात्मा तो परमात्मा जैसा ही है अद्वितीय है और अनुपम है अद्वितीय अनुपम को एक दृष्टि से देखेंगे तो एक ही बात लगेगी बिल्कुल लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा थोड़ा भेद है परमात्मा जैसा कोई नहीं है इसलिए परमात्मा की उपमा वास्तव में कोई हो ही नहीं सकती परमात्मा परमात्मा जैसा है परमात्मा को हम परमात्मा जैसा ही समझें अनुपम समझें इसलिए यहां महर्षि ने संबोधन दिया हे अद्वितीय अनुपम जगदादिकाल मन में भावना रखेंगे अनुपम परमात्मा की भावना ओम का उच्चारण ओ